बेशक जिन लोगों ने आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तहा पर बहुतान लगाया वो तुम्हारे अंदर का ही एक टोला है तुम उस बहुतान के वाक़े को अपने हक में बुरा मत समझो बल्कि वो तुम्हारे हक में बेहतर ही है उनमें से हर एक ने जितना गुनाह कमाया उसके लिए उतना ही हिस्सा है और उनमें से जिसने उस बहुतान में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है